और जब इनको हमारी आयतें अपनी पूरी वजाहतों के साथ पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम इन काफिरों के चेहरों पर नागवारी के असरात साफ पहचान लेते हो ऐसा लगता है कि ये उन लोगों पर हमला कर देंगे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना रहे हैं कह दो कि लोगों क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बतला दूं जो इससे ज्यादा नागवार है आग अल्लाह ने काफिरों से उसका वादा कर रखा है और वो बहुत बुरा ठिकाना है